तो वो वहाँ से डरता हुआ सहमता हुआ निकल पड़ा उसने कहा ए मेरे रब आप मुझे जालिम लोगों से नजात दें